उन दरवाज़ों तक पहुंच जाऊं और मूसा के माबूद को झांक लूं और बेशक मैं समझता हूं वो झूठा है और इसी तरह फिरौन की बदकिरदारियां उसे भली दिखाई गईं और राह से रोक दिया गया और फिर की हर हिला साजी तबाही में ही रही